अपने दिल के हर कोने में हर जर्रे में झांकाया मैं अपने दिल के हर कोने में हर जर्रे में झांकाया यहाँ कोई नहीं कोई यहाँ मैं कल भी तन्हा था यहाँ मैं अब भी तन्हा हूँ वही आंसू वही आए वही दिल की घुटन अब तक वही गम फिर मुझे अब दूर से आवाज देता है जो मुझको एक दिन इस शहर तक पहुंचाने आया था जिसे पाया वो सारे जिंदगी का मेरे गांव की मट्टी मुझे परदेश के गम से छुड़ा लेती तो अच्छा था मैं एक चलता हुआ लाशा हूँ इन अनजान गलियों में इस लाशे को सीने से लगा लेती तो अच्छा था जिसे पाया वो सादे जिंदगी का एक शोला था जिसे पाया वो साजे दिन शुक्रिया बहुत बहुत इतनी बहुत सी तालियों से दिल बहुत बड़ा हो जाता है शुक्रिया नहीं ज़्यादा नहीं वरना फिर आप लोग तालियां बजाते रहेंगे मुझे गाने का मौका नहीं मिलेगा अच्छा एक और दूसरा गाना जो मैं सुनाऊंगा उसके लिए एक छोटा सा वाक्य बयान करूँ आपसे मैं मॉरिशस गया था तो वहाँ पर भी हिंदुस्तानी बहुत बेचारे तरसते हैं गाने सुनने के लिए तो वहाँ बहुत बड़ी पब्लिसिटी हुई ज़बरदस्त किस्म की और जब हॉल में मैं बैठा तो बड़े पटाखे वगैरह छोड़े गए सब कुछ हुआ उसके बाद फिर मैंने सर नमस्ते करके उनसे पूछा कि साहब आपने इतने सब कुछ किया है इतने पटाखे छोड़ाए तालियां तालियाँ बजाई आपको ये कैसे मालूम कि मैं ही तलत महमूद हूँ तो ज़रा थोड़ी देर के लिए खामोशी तारी हो गई एवरीबडी इज क्वाइट कि क्या कह रहा है तो फिर मैंने कहा कि अच्छा आप लोग घबराइए मत मैं ऐसा करता हूँ कि अब जो गाना सुना रहा हूँ वो अपनी परिचय के लिए सुना रहा हूँ अगर आपको ये गाना समझ में आया कि हाँ मेरा ही है तो फिर आप मुझे बताइएगा तो कौन सा गाना था तस्वीर तेरी दिल मेरा बहलाना तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी ये तेरी तरह मुझसे तो शर्मा न सकेगी तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी मैं बात करूंगा तो ये खामोश रहेगी सीने से लगा लूंगा तो ये कुछ न कहेगी मैं बात करूँगा तो ये खामोश रहेगी सीने से लगा लूँगा तो ये कुछ न कहेगी आराम वो क्या देगी जो तड़ पा सकेगी तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला सकेगी ये आंखें ठहरी हुई चंचल वो निगाहें ये हाथ है सहले हुए और मस्त वो बाहें पर छाई को इंसान के काम आ सकेगी तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी इन हो फैयाज मैं कुछ दे न सकूंगा इस जुल्फ को मैं हाथ में भी ले न सकूंगा इन होठों को फैयाज मैं कुछ दे न सकूंगा इस जुल्फ को मैं हाथ में भी ले न सकूंगा उलझी हुई रातों को ये सुलझा न सकेगी तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी वंस मोर में आप ही लोगों का नुकसान है एक गाने का नुकसान हो जाएगा आप ही लोगों का नुकसान हो जाएगा एक गाना कम हो जाएगा वंस मोर का और अभी अगर आप वंस मोर सुन लेंगे तो शायद अगली दफ़ा मुझे ना बुलाएं तो इसलिए वो मैं अपने पास रखना चाहता हूँ इसके बाद फिर मैं एक गज़ल आपको सुनाना चाहता हूँ कुछ शराब और कबाब का तस्करा है हाँ <laughs> इसके ऐसा है कि कुछ शराब का नाम सुनते ही बाजे लोग कूदने लगते हैं drinks something about the wine जैसे और इसमें तो खैर मैंने चूंकि अभी शुरू ही का मौका है बिल्कुल मौका ही नहीं मिला कि कुछ चाय वगैरह पी जा सके तो शिकवे ही समझिए कोई शिकायत है कि शहर का वक्त है और जाम में शराब नहीं जाम में शराब नहीं शहर का वक्त है और जाम में शराब नहीं ये आफताब का धोखा है ये आफताब का धोखा है आफताब नहीं शहर का वक्त है जो तो की जो तो की तो घटाओं ने आके घेर लिया जो तो की घटाओं ने आके घेर लिया जो तौबा तोड़ी तो जो तौबा तोड़ी तो मैं खाने में शराब नहीं आज तो थोड़ी तो मैं खाने में शराब नहीं जो तो थोड़ी तो मैं खाने में शराब नहीं गुनाह गिन के मैं क्यों अपना दिल करूं छोटा गुनाह गिन के मैं क्यों अपना दिल करूं छोटा सुना है तेरी तो रहमत का कुछ हिसाब नहीं सुना है तेरी तो रहमत का कुछ हिसाब नहीं शहर का वक्त है और जाम में शराब नहीं शुक्रिया बहुत बहुत इससे पता चलता है कि आप सबको वही शिकायत है जो मुझे है <laughs> शहर का वक्त तो नहीं है मगर जाम में शराब आते नहीं है इसलिए सबके दिल को लगी ये चीज अच्छा अब कुछ ये तो प्राइवेट गाने हो गए इस, इसके बाद फिर मैं आपको एक फिल्मी गाना सुनाता हूँ <clears throat> तराना फिल्म का एक गाना मैं निकाला है सीने में सुलगते हैं अरमान सीने में सुलगते हैं अरमान तराना फिल्म का सीने में सुलगते हैं अरमा सीने में सुलगते हैं रुमा सी छाई है ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है सीने में सुलगते हैं गम के साथी हैं जो मेरे गम के साथी हैं कुछ आँख में आंसू बाकी हैं जो मेरे गम के साथी हैं जो मेरे गम के साथी हैं अब दिल है न दिल के मां अब दिल है न दिल के अरमा है बस मैं हूँ मेरी तन्हाई है सीने में सुलगते हैं अरमा ना तुझसे गिला कोई हमको ना कोई शिकायत दुनिया से ना तुझसे गिला कोई हमको ना कोई शिकायत दुनिया से दो चार कदम जब मंजिल थी दो चार कदम जब मंजिल थी किस्मत ने ठोकर खाई है सीने में सुलगते हैं अरुमा एक ऐसी आग लगी मन में जीने भी न दे मरने भी न दे एक ऐसी आग लगी मन में जीने भी न दे मरने भी न दे चुप तो कले जा जलता है तो कलेजा जलता है बोलूं तो तेरी रुसवाई है सीने में सुलगते हैं अरमान आंखों में उदासी छाई है ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है सीने में सुलगते हैं अरमान बहुत बहुत शुक्रिया अब इसके बाद दूसरा गाना मैं और सुनाता हूँ क्योंकि वंश मोर मैंने आपसे कहा कि उसमें आपको नुकसान होगा <laughs> ये गाना हालांकि डुएट है लता के साथ मेरा लेकिन इसको मैं हमेशा सोलो गाता हूँ इसलिए कि ये पहले फिल्म में सोलो था लता को गाना बहुत पसंद आया तो उसने ज़बरदस्ती करके इसको डुएट बनवा लिया just as a revenge I sing it as a solo दूसरा गाना अच्छा मैंने फिल्मों में गाने के साथ साथ कुछ एक्टिंग भी की थी थोड़ी सी चार पांच पिक्चरों में माला सिन्हा नूतन इन सब के साथ तो उसमें से एक पिक्चर थी एक गांव की कहानी जिसमें कि मैंने एक डॉक्टर का रोल किया था और अगर कोई डॉक्टर हो तो उसका मेरा टिप है कि मैं अपने मरीजों को गाना गा के ठीक किया करता था तो अगर आप लोगों को ये गाना पसंद आए तो ट्राई करके देखिए शायद ठीक ही हो जाए Welcome to. Welcome. Don't go very fast. रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए Thank you. रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए रंग भरे सो जाल बिछाए आखिर खुली तो सपने टूटे रह गए गम के काले साए रात ने क्या क्या खाब दिखाए रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए रंग भरे सो जाल बिछाए आंखें खुली तो सपने टूटे रह गए हम के काले साए रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए हो हमने तो चाह भूल ही जाए हमने तो चाह भूल ही जाए वो अफसाना क्यों दोहराए हमने तो चाह भूल ही जाए वो अफसाना क्यों दोहराए दिल रह रह के याद दिलाए रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए हो दिल में दिल का दर्द छुपाए दिल में दिल का दर्द छुपाए चलो जहाँ किस्मत ले जाए दिल में दिल का दर्द छुपाए चलो जहाँ किस्मत ले जाए दुनिया पर आई लोग पर आए रात में क्या क्या ख्वाब दिखाए रंग भरे सो जाल बिछाए आंखें खुली तो सपने टूटे रह गए गम के ताले साए रात में क्या क्या ख्वाब दिखाए